और जन्नत के लोग दोजख वालों से पुकार कर कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ने हमसे जो वादा किया था हमने उसे बिल्कुल सच्चा पाया है अब तुम बताओ कि तुम्हारे परवरदिगार ने जो वादा किया था क्या तुमने भी उसे सच्चा पाया वो जवाब में कहेंगे हां इतने में एक मुनादी उनके दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की लानत है उन जालिमों पर